व्याप्ति संबंध संबंधा व्याप्रति से अर्थ तात्पर्य प्राप्ति से नहीं व्याप्ति को देखते नीचे की ओर व्याप्त जो जो लोग हैं सब लोगों को ले लेना है इसलिए उनका नाम ही आपका कह दिया गया यद्यपि पंचभूतात्मकतम लोका नाम तथा अबाहुल्य अब नवरेव अम्भो मर चिर मरम यद्यपि समझ लो फिर भी अब बाहुल्यात अब के नाम जो थे पर्यायवाची उन्हीं शब्दों की तरह यहाँ भी कह दिया गया है हम वो मर्चन मर माप ऐसे अब मौल्य में अब प्राधान्य प्रधानभूत चलिए इन समस्त लोगों का कारण क्या है कर्म कर्म का कारण क्या है जल कि जल के बिना कर्म नहीं है कर्म के बिना लोक नहीं इधर लोगों का मूल कारण क्या है जल कि जल के बिना संकट होता नहीं ना और संकल्प संकल्प कैसे हुआ जल के बिना तो होता नहीं इसलिए जल ही मूल कारण माना गया समस्त लोगों का अतः उसके आधार पर उसकी बाहरता को देखते हुए अंतरिक्ष समस्त लोगों को भी जल के पर्याय वाच्य के साथ प्रयोग कर दिया गया है ये कह दिया भी मरम जो कह दिया वहां जल के पर्याय ही नहीं वो अयम लोग कहा नहीं बोल रहे प्रति एक को बोलते पृथ्वी को कहना होता तो लोग का एक वचन बोलते भाष्य का अब कहा लोग कर्म का पहले आप ले रहे हैं ना हाँ। ये कैसे कर और यहाँ पर तो यहाँ पर टीका पर कहते पृथ्वी में तो हम साक्षात तो देख ही रहे अस्वाभिक साक्षात उपलब्ध थे यहाँ तो साक्षात उपलब्ध हो रहा है जल बहुलता है और जल प्रधान होकर हमारा जीवन चल रहा है इसी क्या अनुमान कर लेंगे सर्वत्र ही सही ये सर्व प्राण फलोपादान अधिष्ठान भूतान चतुर्भो लोकान सृष्टवा उसने क्या किया चार प्रकार के लोगों को जो कि सकल प्राणियों की कर्म से जन्य फल का ही उपादान और अधिष्ठान होता फलोपभोग के लिए अधिष्ठान हो गया और फल उपादान कारण हुए हमारे अपने कर्म फल भोग का ये अधिष्ठान है और अपने कर्म फल फल फल का उपभोग करने अर्थ फल ही सब लोगों को उपादान कारण भी बन गया ऐसा हम अवगत भूतान चतुरो लोकान सृष्टा इन चार लोगों का सृष्टि करके सारी इमीन लोका लोक पालन सृजा सौभ्य एव पुरुषम समुद्रत्यामूर्छयत कहते हैं कि देखो साइक्षत इक्षत इमीन लोका ठीक है भाई ये लोग मेरे तरह सृष्ट हो गए लेकिन इनको पहले हमारे अकाउंट लोग इसलिए लोक को पालानु संकल्प लिया अरे मैं लोक पालों को इसके सृष्टि करूं अर्थात देवताओं की सृष्टि करना है और फिर देवता करेंगे तो वो उनके लिए इंद्रिया चाहिए इंद्रिया चाहिए तो फिर उनके लिए गोलक चाहिए और वैसा विचित चीज शरीर चाहिए अपने आप से सृष्टि क्रम से बताने के लिए आरंभ किया हुआ है सो पुरुषम समुद्रित अमूर्ज फिर विचार किया कि लोग तो बन गए किंतु लोगों के रक्षक कोई नहीं रहेगा तो नष्ट हो जाएंगे लोगों के लोकपालों की रचना करूं ऐसे संकल्प किया ऐसे विचार करके उसने क्या किया कि जल कोई प्रधान पंचभूतों से ही एक पुरुष को निकाल करके उसको क्या कर दिया अमूर्छ उसको अवयवों से युक्त कर दिया जल से पुरुष को निकाला और मूर्छनम क्या है घटनम अवयवीकरणम अवयवों से युक्त करके उसको अवयवी बना डाला या मूर्छा कर दिया मूर्छित हो गया ऐसा नहीं लेना वो मूर्छा यहाँ मूर्छित कर मिला जुला करके जो है आपने असेंबलिंग का काम कर दिया आज की भाषा में होता है असेंबलिंग यानी छोड़ दिया सब पुरुषों को गाड़ी बना दिया जैसे तो वैसे भी सब छोड़ दिया है बना दिया उसको अवयवी बना दिया कहने का तात्पर्य है एक अवयवी का निर्माण कर दिया ईश्वर पुनर्वीक्षण था उस ईश्वर ने पुनरीक्षण किया अपर्णि का बहुत सुंदर है थोड़ा देख लीजिए इसीलिए अत्र आत्मा वुक्ता आत्मज्ञान संसारी मोचित व्यक्ति था आत्मा व्यक्ति जो प्रकरण आरम्भ हुआ है वस्तु में प्रकट स्त्री है इस संसारी को मुक्ति हम कैसे दिलावे कैसे प्राप्त हो सकते हैं उसको वही बात का कथन करने के लिए यह विवक्षित है और संसारण मोक्ष को पड़ते हैं जो असंसारी है वो तो पहले से मुक्त है उसको क्या मोक्ष कराएंगे उसके लिए मोक्ष विपत्ति नहीं है और संसार संसार अधिकरण लोकान और संसार वही है जो संसार का अधिकरण तो लोक है भूतम लिंग और लोक भी कैसे टिकेगा बिना इसके उपभोग कर लो उपाधि कोई शरीर न हो तद अभिमानिनो देवा और उसके लिए देवताओं की जरूरत है तदिष्टान स्थूल शरीर और कहा बैठ के भोग करेंगे भाई उसके लिए स्थूल शरीर चाहिए इस तरह से संसार रूप आदि और क्या कर दिया भूख प्यास के चल पर होगा गए इसलिए इसके लिए संसार का रूपा भूख प्यास को घुसा दिया तत् अभिभाषण तत्भोक्ता और ऐसे सारे चीजों का अभिमान करने वाला एक भोक्ता जीव को डाल दिया जाएगा इत के बिना अंतरेणा मन इन सबके क्रम से इन वस्तुओं के हुए बिना नोपद्यते संसार नोपद्यते उसके साथ बैठे इन सारे चीजों के बिना संसार की सिद्धि ही नहीं होती तब सर्वत्र दृष्टि अयम आवसन ग्रंथीना इस प्रकार क्रम से सारी चीजों की सृष्टि लोक से लेकर के वह जीव पर्यंत की सृष्टि को अयम आवसत अयम आवसत अयम आवसत करके आगे में आने वाला है एक मंत्र वहां तक पूरा करता आत्मावास लेकर वहां तक सारे चीज सृष्टि को उत्पत्ति पूरी कर रहा है क्रमेण वक्षन संसार दृष्टा लोक दृष्टि मुक्ता इसलिए संसार दर्शन लोग दृष्टि तो कथन हो गया तत्काल देवता सृष्टि देवता सृष्टियों का कथन करने के बहाने से सृष्टि तो हो गई लेकिन परिपालित त्रिवर्जिता परिपालन करने वाले न हो नष्ट हो जाए मान लो बगीचा लगा के चले गए कोई उसको पानी पीने वाला कोई देखने वाला ही नहीं तो गेट फोड़ करके आ जाएगा गाय वाय तो खा पी करके खत्म कर देंगे तो एक आदमी को बिठाना पड़ता जो की चौकीदारी करे पानी दिए संभाले घास उस निकालते रहे गाय का प्रतिरोध करे तब तो बचेगा बगीचा नहीं तो कहा से बचना उसी प्रकार पालन करने वाला यहाँ भी कोई कोई संसार में बगीचा तो बना दिया भगवान ने अब उस बगीचे का माली बनाना बाकी है माली का निर्माण हो रहा है तस्मादेशम लोक पाराम लोकाराम पाल तीन सृजय सृजय आप उस निर्णय लिया इनकी रक्षा करने के लिए इन लोगों को पालन करने वालों को जो एक से नहीं होगा ना ये अरे छोटा सा बगीचा तो एक से काम चाहिए बड़ा बगीचे में क्या चार माली चाहिए वैसे ये इतना बड़ा संसार में बगीचा है ऐसे तो बहुत सारे मालियों की जरूरत पड़ेगी इसलिए उसने क्या किया बहुत सारे पालकों को सृष्टि करने का संकल्प लिया सृजय सृजय हाँ, मैं सृष्टि करूँ करूंगा ऐसे एवं विचित्र ऐसा संकल्प करके उसने क्या किया सो अद्वैव मैं अप्रधान वह प्रधान होता है जो जल प्रधान होता है जो का ये जो अम्ब प्रकृति सृष्टवान जिनसे अम्ब प्रकृतियों की सृष्टि की थी पंचभूतों से पंच महाभूतों पंच महाभूतों से ही निर्माण करने जा रहा है पुरुषम पुरुषाकार शराब पानियादिमंदम समुद्र समुपादाय उसने पुरुषाकार जो है शराब पानी आदि वाला समुद्र जल से उपादान करके समय प्रकार से ग्रहण करके मृत पिंडम इव कुड़ाल जैसे कुड़ क्या कर कुड़ाल क्या करता है थोड़ों को इकट्ठा करके उसमें पानी वगैरह डाल के पिंड बना देता है उसी पंचभूतों से इसने स्थूल पिंड का निर्माण कर दिया पृथ्व्या अमूर्थिन जैसे कुणाल पृथ्वी से एक मृत पिंड बना लेता है उसी प्रकार से इस पंचभूत पंच महाभूतों से क्या कर दिया पंच पंच महाभूत बना लिया और पंच महाभूतों से एक स्थूल शरीर बनाएगा जिसके अंदर देवता लोग रह सके अमूर्छित मूर्छित संपीड़ित स्व अवय संयोजन आ गया उनके अपना जो जब हाथ पैर वगैरह जो जब जरूरत है उन अवयों से जोड़ जाड़ करके उसने उनको अवयव ही बना दिया पिंड रूप धारण करा दिया आप लेकिन वह पिंड बन जाए तो मरा हुआ पड़ा रहे मुर्दा जैसे बिना उसके अंदर देवता का वो मुर्दा है वो सारी चीजों को बनाना जरूरी प्रत्येक का गोलक बनाना है उन गोलकों के अंदर उनको बिठाना है और बिठाया क्यों तो क्या करेंगे गोलक अभी बिना करण का उसमें इंद्री भी देनी पड़ेगी इसके माध्यम से जो है देवता बाहर अंदर आएंगे जाएंगे वस्तु ग्रहण करेंगे सकल विषय भोग होगा संसार चलेगा तो उन चीजों का निर्माण करने के लिए आरम्भ करते हैं मुखादाचो अग्निर नासी अक्षिणी निर्विद्येदाम अक्षिभ्याम चक्ष आदि

जैसे के बाद आप देख लीजिए मुखात वाक वाचो अग्नि बस नाचिके उसकी उसकी तो शुरू कहां से हुई थी मुख निरपेद्यता मुख निर्विद्यता मुखात वाक वाचो अग्नि नाचिके निर्विज्यता नाचिकाभ्याम प्राण प्राणाद्वायो अक्ष निर्विद्यता अक्षिभ्याम चक्षु चक्ष आदित्य कर्णव निरपेद्यता कर्णाभ्याम श्रोत्र दिशा तम निर्विद्यत प्रचो लोमानी लोमभ्य ओषधिवस्पतयो फिर हृदय निरविद्यत हृदयात्मनो मनसश्चंद्रमा नाभिर्निर्विद्यत नाभ्या अपारो अपाराम मृत्यो शिष्टम निर्विजित शिष्टा त्रेत प्रेत आप ऐसे विभाग पूर्वक उसको समझना है उस पुरुष का थूल पिंड को लक्ष्य करके उस ईश्वर ने संकल्प रूपा तप किया चिंतन किया अब मैं इस थूल शरीर के अंदर इसको कहा फिट कर ऐसे फिट किया जैसा मामला और चार से पहले तस्य मुख निरभित ईश्वर के संकल्प रूप तब से तब उस पिंड के अंडे से अंडे के समान क्या हुआ प्रकट हुआ मुख यथा अंडम जैसे जो अंड होता है वो क्या होता है फटता है जब पैदा होने लगता है उसी प्रकार से यहाँ पर भी जैसे उसने विचार व संकल्प छोड़ा तब से उसके मुख निकला मुख निकला और उस मुख के अंदर क्या हुआ मुखात्मा मुख रूपा गोलक में वाहक रूपी इंद्रिय हुआ उस वाहक रूपी इंद्रिय का देवता कौन है वाच्य अग्नि अचायक उस वाणी से उसका ज्ञानी देवता अग्नि हुआ समझो इसी प्रकार उसके एक उस मुख के ऊपर का दो नाच का चित्र खुल पड़ा नाच की निरविधि और उन नाचिकाओं से प्राण मन क्रिय हुआ और इंद्रियों से वायु हुई उसका अभिमानी देवता और अक्षिणी निर्विचेता उसके उससे ऊपर का जो तो छिद्र है आंख गोलक वो पहले गोलक है फिर गोलक इंद्रिया फिर इंद्रिया भी बनी देवता नासिकाओं से हो मरे चक्षुओं से क्या हुआ अक्षुभ्याम चक्षु अक्षु भी गोलकों से चक्षु रूप इंद्रिया और चक्ष आदि उसका भी बनी देवता सूर्य उसके बाद दाहिने बाएं बगल में जो उसके भी आसपास में रहने वाले चार चाह का केवल फर्क ऐसा जब कर्णो निर्विद्य था क्या वह कर्णो निर्विद्य था दो कर्ण के गोलक खुल पड़े और कर्णों से श्रोत इंद्रिया के भीतर हुई और श्रोत इंद्रिया देवदा देवदा उत्पन्न होगा निर्विदिता उसके बाद पूरे शीर का चमड़े रूपा ये सारा का सारा चमड़ा पैदा हो गया वो चमड़े रूपी गोलक में क्या हुआ लोमानी मैंने स्पर्श नहीं पैदा हुआ भोजन इसलिए पूरी तो है नहीं पूरी में है इसे प्रत्येक क्षेत्र में वह इंद्रिय होने से एक नहीं है लोमानी भोजन प्रयोग कर दिया और क्या उस स्पर्शेंद्रिय के से क्या हुआ पोषित वनस्पति हो इसका अभिमानी देवता कोई कौन है वो वायु समझने पर भी वायु अभिमानी देवता है वायु का दो भिन्न स्वरूप है ग्रहण का अभिमानी देवता को भी वायु कह दिया यहाँ भी इन स्वरूप भेद समझना हृदय निरभिजित उसके बाद का भीतर में हृदय नाम का गुफा पैदा हो गया और हृदय से उसके भीतर में मन रूपा इंद्र बैठ गया और मन रूपा इंद्र का देवता कौन है चंद्रमा हो गया नाभिर निर्भिजित ठीक नीचे नाभि नाम का चीज पैदा होगा उससे अपान हो मैंने पाइव इंद्री यहाँ नाभि से क्या समझना नीचे वाला गोलक को लेना पाइव इंद्री का गोलक गुदा और उसमें एक इंद्री नाम का चीज पैदा हुआ और उस इंद्र से उसका पैमानी देवता मृत्यु हो गया अपाना मृत्यु और उसके बाद उसके भी समय सामने के भाग में एक शिष्ट नाम का गोलक पैदा हुआ उस शिष्ट नाम का गोलक में एक रेत अर्थ उपस्थ नामक इंद्रिय उत्पन्न हुआ रेत उपस्थ इंद्रिय और उपस्थ इंद्रिय का भी अभिमानी देवता हो गया कौन पापा मैंने प्रजापति देवता हो गया तम पिंडम पुरुष विधम दीक्षा अभ्यतपत वह जो पुरुषाकार को प्राप्त हुआ विराट रूपी जो पिंड था उसको देख करके ज्ञान रूपी तप उसने किया जिससे ज्ञान तप तब से तांत्रिक उसने किया अब शरीर कैसे चलने फिर लायक हो जाए कि देवता लोगों के लायक कैसे बन जाए ये सोचा तब अपित परम अपित संकल्प संकल्पम कृतवान उसने संकल्प जब संकल्प किया उसके अवयवों को लोकपालों विराट को पैदा कर चुका है उसके अवयव को तो चिंतन कैसे हो ईश्वर संकल्प अवितप्त ईश्वर संकल्प के द्वारा उसके ज्ञान रूप चिंतन के द्वारा अवितप्त हो गया कौन वह पिंड उस पिंड तारस उस पिंड के अंदर क्या हुआ मुखम निर्भित मुखाकार एक मुखाकार चित्र उस मैंने गोलक बने लगे गोलक द्वार बना जो चारों तरफ दीवार बना दो तो अंदर कैसे घुसेगा जब कभी तो द्वार बनाना पड़ेगा अंदर आने जाने का विभिन्न द्वार इसको गोलक कहते गोलकों का निर्माण यथा पक्षिणो अंडम निरूपित एवं जैसे पक्षी का अंडा फूटता है वैसे समुद्र विच्छिद उसके अंदर फूट गया तस्मात निर्भिन्नात्मक व्याकरण इंद्रियम निरपित उस निर्भिन्न बंधा हुआ उस मुख से क्या हुआ वाहक रूप जो करण है इंद्रिय है वह उत्पन्न हुआ और दृष्टा का अग्नि तो वाचो लोकपाल योगी जो है उसका अधिष्ठाता जो अग्नि है वो भी उत्पन्न हुआ किससे उसी वाणी रूपी जो है इंद्रिय से क्योंकि उसका लोकपाल अग्नि ही है वाणी का अधिष्ठान लोकपाल जो अग्नि है वो उत्पन्न हुआ वाचो लोकपाल अग्नि तथो ततो निरवर्तता अच्छा अनुभव होगा पूर्वान्वय वाणी का लोकपाल है वो इसलिए वाणी का अधिष्ठात्र होता है वो वैसा जो अग्नि वो उत्पन्न हो गया तथा नासिक निरविता ठीक इसी प्रकार से नासिका का दो चित्र भी फूट गया निष्पन्न हुआ मैंने गोलक बन गया ये जो गोलक हुए इनसे क्या हुआ नासिकाभ्याम प्राण वायु रीति से प्राण और यहाँ प्राण शब्द से क्या लेना ज्ञान इंद्री बोले हैं तो में क्या है ज्ञान इंद्री है ये मुख्य प्राण का अभी गुणों को बताना बाकी है उसकी घर में ही है ये विराट होते हैं नासिकाभ्याम प्राण प्राण वायु और ग्रहण इंद्रिय से क्या हुआ उसका अभिमानी देवता जो वायु उत्पन्न है सर्वत्र अधिष्ठान कर्णम देवता अधिष्ठान जो गोलक उस गोलक पे विद्यमान जो इंद्रिय और उसका देवता चत्रयम क्रमेण निर्भिन्नम तीनों क्रम देख के बाद एक उत्पन्न हुए ऐसा अर्थ लगा लेना अक्षिणी कर्ण हो तो हृदय अधिष्ठान मनो अंतकरणम हृदय से लेना अंतकरण का अधिष्ठान और मन से लेना अंतकरण को ही इस प्रकार से सभी के गोलक हुए पहले फिर उसमें तत्व इंद्रिया हो गई और उनके अभिमानी देवता ना भी सर्व प्राण बंधन स्थान ना भी से कंध स्थान को जो समस्त प्रकार के शरीर के समस्त प्राणों को बांध करके रखा हुआ है तस्माद अपान संयुक्त अपान पायु इंद्रिय मुच्छते अपान से संबद्ध होने के नाते या अपान से क्या लेना पायु इंद्रिय को लेना तस्य अधिष्ठात्र देवता मृत्यु और उसका अधिष्ठात्र देवता कौन है मृत्यु है यथा अन्यत्र तथा सिस्टम निरभित जिस प्रकार से अन्यत्र आपने घटाया उसी पर यहाँ पर भी समझो सिस्टम निर्भरता प्रजन इंद्रिय स्थानम इंद्रियम रेतो प्रजन इंद्रिय का स्थान पैदा हुआ पहले फिर इंद्रिय पैदा हुआ फिर रेतो मेरे रेतो विसर्गा रेत विसर्जन करने के लिए होने से सह रेत उचित है रेत था आप इसलिए रेत से लेना आप अर्थात प्रजापति उस रेत से जो है प्रजापति देवता पैदा हुआ जो कि इस इंद्र का विमानी देवता है विसर्जन करने के लिए है वो वीर का विसर्जन करने के लिए होने से उसको रेत सबसे कह दिया गया है उस इंद्री का नाम उपस्थ इंद्री को रेता हृदय से कह दिया क्योंकि तो मुख्य कार्य है प्रजन कार्य है तो सरकार तो तो रेता सहारे तथा और करते हैं उसी के साथ के साथ साथ उस रेत उसकी उपस्थ इंद्री से प्रजा आप अपने प्रजा अब वो साहब देवता ने सोचा महाराज तो बन गया है शरीर भी बन गया उसके अंदर गोलक बन गए लेकिन हम इसमें जो है कैसे कार्य कर सकेंगे ता एता देवता सृष्टा अस्विन महत्ण वे प्रापदन तम अशराया पिपासाभ्याम मनोभारजत ता एनम अब्रवन् आयुधन रक्तजानी यस्मिन् प्रतिष्ठिता अन्नम वदामेति ता देवता सृष्टा वे ये जो रची के इंद्रियाभिमानी निगमना गण है अविद्या काम और कर्म रूपी जल से परिपूर्ण अश्विन्य संसारे वे इस महान जो संसार समुद्र में प्राप्त गिर गए हर संसार और इंद्रियात्मानी देवता चिल्लाने लगे हे परमात्मा है क्या कर दिया आपने अब हमें ऐसे स्थान दो ऐसे आयतन बनाओ इस विराट से काम चलेगा नहीं व्यापक शरीर से हम अपने भूख और प्यास को नहीं मिटा सकते इसलिए आप हमें ऐसे कोई शरीर बनाओ जिससे समस्त ये जो ग्यारह बारह इंद्रिया है इन समस्त इंद्रियों का भूख प्यास समय प्रकार से मिट सके विभिन्न प्रकार के शरीर बनाएगा तोप बनाएगा घोड़ा बनाएगा सारे क्रम से समझना चौरासी लाख योनियों को बना अवंत में सबको इनकार करेंगे महाराज ये भी ठीक नहीं ये भी ठीक नहीं सभी में कुछ न कुछ कमियां हैं है? पूरे द्वादश इंद्रिया हो और द्वादश इंद्रियों से युक्त होकर के समय प्रकार से ज्ञान और बुद्धि के योग्य शरीर है एकमात्र वो मनुष्य शरीर है इसलिए ahora प्रजानी ही ऐसे कह करके उनका जिसमें प्रसिद्ध होकर हम अपना भूख प्यास को मिटा सके ऐसे शरीर का निर्माण करें अब वृष्टि शरीरों के लिए प्रार्थना यानी क्या शरीरों के लिए प्रार्थना किया देवताओं आयता अग्नि आयो देवता लोकपाल संकल्प सृष्टा वह ये जो अग्नि देवता है इनको इस लोक का पालन करने वाले के रूप में संकल्प पूर्वक ईश्वरीय सृष्टा ईश्वर के द्वारा सृष्टि कर दिया गया अस्मिन संसार आरणवे लेकिन इन्होंने क्या किए इस संसार रूपी समुद्र में संसार समुद्र कैसा है संसार समुद्र बाहर महत्व अरणवे है ना महती उसका विशेषण दिया महती अरणवे अश्विन अस्मिन को दिया अस्मिन अरणवे संसार आरणवे संसार भी समुद्र में ये छोटी मोटी समुद्र नहीं एक महान समुद्र है क्यों महान है अविद्या कर दुख अविद्या काम और कर्म रूपी से जन्य दुख आत्म जल से भरा पड़ा है ये समुद्र तीव्र रोग जरा मृत्यु वहाँ ग्राह और इसमें बड़े बड़े मगर मच्छर वगैरह है मगरमच्छ है मगरमच्छ जानते हैं ना घड़ियाल ऐसे अलग अलग नाम से कहते हैं और भी एक दो जानवर हैं इसके भीतर क्या है रोग जरा मृत्यु रूप से तीन नाम से बुला दिया रोग जरा और मृत्यु रूपी जो महाग्राह बड़े बड़े मगरमच्छ हैं और कैसा है ये अनाद वन पार निरारंभ इसलिए महती कह दिया गया था क्योंकि ये प्यार ग्रह जल जीवित है इतनी बात में दुख है तो कोई बात नहीं झेल भी लेते दुख के साथ रोग जरा मृत्यु की दूरिया और गड़बड़ कर दिया लेकिन ये दुख और एकादश ग्रह जो रोग का तीर रोग तीर जरा तीर मृत्यु को भी हम सहन कर लेते लेकिन ये भी थोड़े दिन के लिए होता चलो मर जाते मृत्यु हो जाती तो कोई बात नहीं तो ऐसा तो झेल लेंगे भाई मृत्यु गारंटी है ना लेकिन बात नहीं मुक्ति का अनाद विरालम थे ये अनादि से चल रहा है उसे और कोई भरोसा है नहीं अनंत काल तक चलेगा अथवा कार्य कारण भाव से रहित होने के नाते इसका कोई भरोसा नहीं कब तक करेगा वो जो कारण कारण भाव से जरूर होता है ना वो नियत है आयु से कर लेंगे जो भी कोई कारण से जन्य कार्य अब जब भौतिक संसार से लेकिन चीजों को हमें नित्य मानना पड़ रहा है आज के वैज्ञानिक वैज्ञानिक भी इस बात को स्वीकार कर रहा है तो संसार का कहाँ कारण भाव से स्वीकार कर इसलिए आदि शब्द का कारण कुछ लगा लिया गया है और तो कोई आपत्ति नहीं शब्द का कार्य है मैंने कार्य का अनुभव रहित होने की बात है इसका कोई भरोसा है नहीं कब तक रहेगा क्या है क्या अपार इसलिए इसका कोई पार का पता नहीं चलता गंगा जी का पार दिखाई तो नहीं आ रहा थी परमाणु हाँ, दिखाई दे रहा है, है? लेकिन जो है इसका कोई पार ही नहीं दिखता है पार सब दिखाई दे कोई आलम्बन हो निरालम है माया हाँ, ऐसी चीज है वो आलम्बन रहित है अर्थात किसी विषय आधार को लेकर जो ग्रहण करने की चेष्टा करो इसके आदि अंत और पार को नहीं ग्रहण कर सकते